जोगिनी भयोंग भस्म चढ़ाए जो लपटाए रहे संग आप छुट्टी न जा तुम्हारे जग जीवन का अब विश्वास राखूं सतगुरु अपने पास जग जीवन का अब विश्वास राखूं सतगुरु अपने पास अब की बार तारू मोरे प्यारे विनती करे के कहूँ पुकारे मर के भी कब तक निगाहें शौक को रुसवा करे जिंदगी तुझको कहा फेंक आए आखिर क्या करे जख्म दिल मुमकिन नहीं तो चश्म दिल ही वाह करे वो हमें देखे न देखे हम उन्हें देखा करे एम कुर्बा मिल गया अर्जे मोहब्बत का सिला हाँ उसी अंदाज से कह दो तो फिर हम क्या करें देखिए क्या शोर उठता है हरि में नाश से सामने आईना रखकर खुद को एक सिजदा करें हाय ये मजबूरियां महरूमिया नाकामिया इश्क आखिर इश्क है तुम क्या करो हम क्या करें प्रेम का आनंद है प्रेम की पीड़ा भी प्रेम समाधि है प्रेम संताप भी संताप से सीढ़ियां बनती हैं समाधि के मंत्र की प्रेम की पीड़ाओं पर ही पग धर धर कर प्रेम के आनंद तक पहुंचना होता है जो कीमत चुकाने को राजी नहीं वह मंदिर तक नहीं पहुंच पाएगा और मंदिर की सीढ़ियां पत्थरों से नहीं बनी है पीड़ाओं से बनी है तुम्हारा धन तुम्हारा पद तुम्हारी प्रतिष्ठा कोई भी तुम्हें उसके मंदिर तक न ले जाएगी जब तक कि तुम हृदय को जला के राख करने को राजी न हो जाओ लेकिन उसके मार्ग पर झेली गई पीड़ा भी अहोभाग्य है उसके विपरीत सुख भी मिले तो दुर्भाग्य उसकी खोज में दुख भी मिले तो सौभाग्य उसे गमा के जिंदगी फूलों से भी भर जाए तो आज नहीं कल गंदगी और बदबू के सिवा कुछ भी न पाओगे उसे खोजते हुए जिंदगी कांटों से भी भर जाए तो हर कांटा फूल हो जाएगा अंततः फूल हो जाएगा उसके मार्ग पर फूल ही है कांटे जैसे जो मालूम होते वे भी अंततः फूल ही सिद्ध होते प्रेम की पीड़ा के लिए जो तत्पर है झेलने को वही प्रेम के मंदिर में छिपे परमात्मा को खोज पाता है त्यागी व्रति भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में गणित है प्रेमी भी दुख झेलता है पर उसके दुख में गणित नहीं काव्य है त्यागी दुख झेलता है मगर उसका दुख रूखा सूखा है प्रेमी भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में हृदय की रसधार बहती है प्रेमी का दुख हरा भरा है ज्ञानी का दुख आरोपित है ऊपर से थोपा गया है प्रेमी का दुख हृदय से उमकता है और वही भेद है और भेद बड़ा है ऐसा भेद जिससे फिर सारे भेद पड़ जाते हैं त्यागी ज्ञानी दुख झेलता है वे दुख सतह पर होते कोई कांटों की सेज पर सोया है तो देह पर कांटे चुभते हैं और किसी ने उपवास किया है तो पेट भूख की आग से झुलसता है और कोई रात भर जागता रहा है तो उसकी आंखें थकी हैं लेकिन ये सब ऊपर ऊपर है प्रेमी का दुख हार देखे कांटा हृदय में चुभता है भूख हृदय में अनुभव होती उदासी विषाद हृदय के केंद्र में उमकता है प्रेमी का दुख आत्मिक है और निश्चित ही जो आत्मिक दुख उठाने को तैयार है उसने कीमत चुकाई उसने अपने जीवन को यज्ञ बनाया जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं वे ही पहुंचते हैं वो काफिर आसना ना आसना यू भी है और यू भी हमारी इब्तदा का इंतहा यू भी है और यू भी ताजुब क्या अगर रस्म बफा यू भी है और यू भी कि हुस्न इसका हर एक मसला यू भी है और यू भी कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया मोहब्बत और उसका सिलसिला यू भी है और यू भी वो मुझसे पूछते हैं एक मकसद मेरी हस्ती का बताऊं क्या कि मेरा मुद्दा यूं भी है और यूं भी हम उनसे क्या कहें वो जाने उनकी मसलहत जाने हमारा हाल दिल तो बरमला यूं भी है और यूं भी न पालेना तेरा आसान न खो देना तेरा मुश्किल मुसीबत में ये जाने मुबतला यूं भी है और यूं भी उससे पाना बड़ा कठिन और उससे खो देना बड़ा आसान उसकी तरफ चलना बड़ा कठिन उससे दूर जाना बड़ा आसान उसके पास तक चलो उसके करीब बढ़ो तो भी दुख है और उससे दूर जाओ तो भी दुख है हमारी इब्तदा का इंतहा यू भी है और यू भी उससे दूर जाओ तो दुख है मगर कोरा दुख नपुंसक दुख कांटे ही कांटे जिनमें फूल कभी नहीं लगते उसके पास चलो तो भी दुख है लेकिन बड़ा विधायक दुख उसी दुख की भूमि में आनंद के फूल खिलते उसे चूको तो भी संताप है तो भी अंधेरी रात है और उसे खोजने चलो तो भी अंधेरी रात है पर एक भेद उसकी तरफ पीठ करो तो अंधेरी रात का फिर कोई अंत नहीं उसकी तरफ मुंह करके चल पड़ो अंधेरा कितना ही घना होता जाए जितना अंधेरा घना होता है उतनी ही सुबह करीब आती कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया मोहब्बत और उसका सिलसिला यूं भी है और यूं भी न तेरा न पा लेना तेरा आसान न खो देना तेरा मुश्किल मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी दुख तो ऐसे भी है दुख वैसे भी है लेकिन दुखों दुखों में भेद है व्यर्थ के लिए भी आदमी दुख झेलता है सार्थक के लिए भी दुख झेलता है इसलिए सभी दुखों को एक ही तराजू पे मत तोल लेना कोई धन के लिए भी रोता है और कोई ध्यान के लिए रोता है दोनों के आंसुओं का एक ही मूल्य मत समझ लेना यद्यपि विज्ञान के तराजू पर दोनों के आंसू एक जैसे ही और अगर रसायन विद से पूछोगे तो दोनों के आंखों का आंसुओं का विश्लेषण भी एक जैसा है दोनों का स्वाद भी एक जैसा है खा रहा कुछ भेद ना बता पाएगा अगर रसायन विद के पास ले गए किसी भक्त के आंसू किसी प्रेमी के आंसू और जो धन के लिए रोया था और जो पद के लिए रोया था उसके आंसू ले गए तो भेद ना बता पाएगा कि कौन से आंसू प्रेमी के हैं और कौन से पद के दीवाने के हैं लेकिन अंतर तो है रसायन शास्त्र न पकड़ पाए तो रसायन शास्त्र की सीमा सिद्ध होती अंतर तो है पद के रास्ते पर भी आदमी रोता है लेकिन तब उसके आंसू की कोई गहराई नहीं कोई मूल्य नहीं उसके आंसुओं में कोई सुगंध नहीं सुवास नहीं क्योंकि उसके आंसुओं में कोई प्रार्थना नहीं उसके आंसू नीचे की तरफ जाने वाले आंसू हैं उसके आंसू नरक की यात्रा पर चले और जब कोई उस प्यारे के प्रेम में रोता है तो आंसू तो आंसू ही जैसे हैं लेकिन यात्रा का पूरा का पूरा रूप बदल गया आयाम बदल गया अब ये आंसू आकाश की तरफ उठ रहे अब इन आंसुओं को पंख लग गए अब ये आंसू स्वर्गीय अब ये आंसू ऊर्ध्वगामी भक्त भी रोता है आसक्त भी रोता है मगर भेद ख्याल रखना वासना ग्रस्त भी नाचता है प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ भी नाचता है वासना का भी नशा है प्रार्थना का भी नशा है पर भेद ख्याल रखना दुख और दुख एक जैसे ही नहीं होते लेकिन एक बात तो है ही परमात्मा के रास्ते पर भी बहुत पीड़ाएं यद्यपि वे सभी पीड़ाएं धन्य भागियों को उपलब्ध होती है जोगिन भयु अंग भसम चढ़ाए जब जीवन कहते हैं जोगन हो गई हूं रोती हूं पुकारती हूं कोई उत्तर भी आता मालूम पड़ता नहीं पीड़ा सघन होती जाती है देह पर भसम चढ़ा ली ये प्रतीक है भस्म है प्रतीक मृत्यु का कोई मर जाता है तो राख पड़ी रह जाती ऐसे जीते जी मुर्दा हो गई देह को तो जाने लिया कि आज नहीं कल राख हो जाए हो ही जाना है राख तो हो ही गया जोगिन भयु अंग भस्म चढ़ा है प्रतीक को शब्द सा मत पकड़ लेना कुछ ना समझो ने यही किया वो भसम चढ़ा के बैठ गए वो सोचते भसम चढ़ा ली काम पूरा हो गया भसम चढ़ाना बड़ा गहरा प्रतीक है उसका अर्थ है इस देह को मुर्दा मान लिया तेरे बिना ये देह मुर्दा है तेरे बिना ये संसार मुर्दा है तू आए तो रस आए तू आए तो जीवन आए तू आए तो हरियाली हो तू आए तो फूल खिले तेरे बिना सब मौत है तेरे बिना जीवन नहीं है मरघट है और दूसरी बात ख्याल रखना जैसे ही परमात्मा की तरफ कोई प्रेम से भरता है पुरुष मिट जाता है स्त्री का आविर्भाव हो जाता है जब जीवन पुरुष है लेकिन भाषा स्त्री की बोलने लगे जोगिन भैयु अंग भसम चढ़ा है कि मैं जोगन हो गई हूं अंग भसम चढ़ा ली प्रेम की भाषा स्त्रैन है पुरुष आक्रमक है वो परमात्मा की खोज पर भी निकलता है तो ऐसे ही जैसे युद्ध के लिए निकला हो बैंड बाजा बजा के भाले इत्यादि उठा के परमात्मा की यात्रा पर भी योद्धा की तरह जाता है जैसे परमात्मा से कोई जूझना है पुरुष की भाषा विजय की भाषा है स्त्री की भाषा समर्पण की भाषा है और मजा यह कि जो समर्पण करना जानते हैं जीत उनकी है जो जीतने चले हैं हार उनकी निश्चित है सौ प्रतिशत निश्चित है परमात्मा से लड़ोगे हारोगे परमात्मा से हारोगे जीत जाओगे प्रेम का सूत्र है जीत हार से उपलब्ध होती है और परमात्मा के साथ तो हमारा अगर कोई भी संबंध हो सकता है तो प्रेम का ही हो सकता है और प्रेम का गणित ख्याल रखना कभी भूल मत जाना हारना है वहां अगर जीतना हो तो हारना होगा जिस समग्रता से हार जाओगे उसी परिपूर्णता से जीत का सहरा तुम्हारे सिर बंधेगा जोगिन भयु अंग भसम चढ़ाए कब मुरा जीरा हो आए खंड खंड हो गया है मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है जिसे दर्पण किसी ने पटक दिया हो पत्थर पर कब आओगे कब मेरे इस खंड खंड हृदय को जोड़ दोगे पुनः कब मुझे फिर एक कर दोगे मनुष्य अनेक हो गया है अनेक उसकी वासनाएं हैं इसलिए अनेक हो गया है अनेक उसकी आकांक्षाएं हर आकांक्षा अलग दिशा में खींचती कोई पूरब कोई पश्चिम कोई दक्षिण कोई उत्तर मनुष्य एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें सब तरफ बैल जुते इसलिए तो जीवन में कोई यात्रा नहीं हो पाती यात्रा हो तो कैसे हो एक हिस्सा पश्चिम जा रहा है एक पूरब जा रहा एक उत्तर एक दक्षिण सब एक दूसरे के विपरीत संघर्ष में रहते ऐसी बैलगाड़ी कहीं चलेगी जिसमें सब तरफ बैल जुते हो घसट जाएगी थोड़ी बहुत अस्थि पंजर टूट जाएंगे मंजिल नहीं मिलेगी मगर ऐसा ही आदमी है तुमने अपने मन को कभी जांचा परखा कभी जाग के थोड़ा देखते हो कैसी कैसी इच्छाएं और एक दूसरे के विपरीत इच्छाओं में एक तारतम्य भी नहीं एक संगति भी नहीं बड़ी विपरीत इच्छाएं जैसे एक आदमी चाहता है कि मुझे सम्मान मिले मेरे अहंकार की प्रतिष्ठा हो दुनिया कहे कि मैं कुछ विशिष्ट एक आकांक्षा दूसरी तरफ आदमी ये भी चाहता है लोग समझे कि मैं विनम्र हूं लोग कहें कि यह है साधु पुरुष ऐसा विनम्र कभी देखा नहीं गया अहंकार का भाव ही नहीं छू गया है अब ये दोनों इस क्षणों में कसमकस जारी रहेगी ये एक दूसरे के विपरीत चलती रहेगी एक इच्छा है कि दान दू बांटू लेकिन दूसरी इच्छा है खूब इकट्ठा करो संपदा हो सुरक्षा हो अर्जुन होगी एक इच्छा है कि जीवन में नित्य नूतन नए का आविर्भाव हो क्योंकि ऊब हो जाती पुराने से थक जाता आदमी पुराने से तो रोज कुछ नई घटना घटे कुछ नई संवेदना जगे कुछ नई प्रतीति हो एक इच्छा और दूसरी इच्छा है सुरक्षा रहे सुरक्षा न खो जाए सुरक्षा पुराने के साथ रहती नए के साथ असुरक्षा है कौन जाने नया कैसा होगा क्या होगा नए का क्या भरोसा पुराना जाना माना है परिचित है बहुत दिन साथ रहना हुआ है पुराने के साथ रहो तो सुरक्षा है लेकिन ऊप पैदा होती नए के साथ रहो तो उत्तेजना होती लेकिन खतरा पैदा होता है और ऐसी अनंत अनंत इच्छाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी तुम अपने मन को ठीक से देखोगे तो तुम ठीक वैसी ही दशा पाओगे जैसा महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ खड़े तुम्हारे भीतर महाभारत का युद्ध चल रहा है इस तरफ भी अपने हैं उस तरफ भी अपने हैं एक ही व्यक्ति अनेक अनेक खंडों में बट गया है अखंड कैसे हो गए वासनाओं में जीकर कोई अखंड नहीं होता प्रार्थना अखंड करती क्योंकि प्रार्थना एक है परमात्मा अखंड करता है क्योंकि परमात्मा एक एक की आकांक्षा परमात्मा की आकांक्षा है उस एक का पदार्पण हो जाए जब जीवन ठीक करते कब मोरा जीरा जुड़ियो आए मैं तो टूट गया मैं तो पारे जैसा छितर बितर हो गया तुम्हारा परस स्पर्श न मिले तो मैं फिर इकट्ठा हूं इसकी आशा दुराशा मालूम होती लागत अषाढ़ बाढ़ी बिरहा की बाढ़ हुए अंजनी पहाड़ वही नैनन सो नदिया हुई गई निपुती ते सपूती धरती की गोद वारे वैस आकुर पर रिची गई बुनिया पिया परदेश लागे सुनो सुनो वेश रोवे हीरा मनी चुनरी पे धानी रंग अंगिया हेरी हारो अंगना रिटेरी हारो कंगना निहारी हारो कचरा बुलाए हारी बिंदिया पुकारते पुकारते बहुत देर हो गई जन्मों जन्मों से खोज रहे हेरी हारो अंगना री तेरी हारो कंगना निहारी हारो कचरा बुलाए हारी बिंदिया बुरी हार हो गई है पराजय में खड़े टूटे बिखरे खंड खंड अस्त व्यस्त एक खंडर हो गए आओ तुम तो फिर मंदिर बने उतरो तुम तो तुम्हारी मौजूदगी फिर टूटे खंडों को निकट ले आए संगठित कर दे असमन ललके मिलो मैं था है मन में ललक तो बहुत है कि मिल जाऊं तुमसे आगे पर तुम्हारी कृपा ना हो तो क्या हो मैं तो बहुत चाहूं कि खोज लू तुम्हें लेकिन दूसरी तरफ से हाथ ना फैलाया जाए तो मेरे हाथ बड़े छोटे ललक तो उठती है बहुत पर मेरी सीमा है मेरी ललक की भी सीमा है छोटा सा दिया है लपट उठती भी है तो कितनी बड़ी उठेगी दिए का तेल भी थोड़ा है बाती भी छोटी असमन ललके मिलो में था होती तो बहुत ललक है ये मेरा मन बार बार प्रज्वलित हो उठता है क्योंकि दिखाई पड़ रही है सारी व्यर्थता और दिखाई पड़ रहा है सारा अपना विक्षिप्त रूप टूट गया खंड खंड बिखर गया सब भांति ये सब दिखाई पड़ रहा है ये खंडहर हो गया हूँ ये मुझे मालूम पड़ रहा है तुम आओ तो फिर घर बसे ललक तो उठती है पुकारता भी हूँ लेकिन मेरी सीमा है घर आंगन मैं प्रचुना सुहा है अब कुछ भला भी नहीं लगता ना कोई घर है ना कोई आंगन बचा है रहने वाला ही टूट गया रहने वाला ही मुर्दा है मरघट हो गया है सब किसी तरह ढो रहे तुम जिंदगी को ढो रहे हो जीने रहे जीने की ललक कहा जीने की पुलक कहा जीने का उत्साह कहा जीने की उमंग कहा तुम्हारे पैरों में नृत्य तो नहीं और न तुम्हारे प्राणों में गीत है बांसुरी कब की नहीं बची कब से स्वर खो गए कब से तुम्हारा अपने मूल रूप से मिलन नहीं हुआ परदेश भटकते भटकते भीख मांगते मांगते तुम भूल ही गए हो अपनी बात साहत घर आंगन मर कछु न सुहाय असमें व्याकुल भयु अधिकाय जैसे निर्बिन मीन सुखाए और अधिक से अधिक मेरी पीड़ा होती जाती पीड़ा का अंत तो दूर पीड़ा बढ़ रही खंड संगठित हो यह तो दोष छोटे छोटे खंड और छोटे छोटे खंडों में टूटते जा रहे विमुक्ति आए इसका तो सपना भी देखना मुश्किल है विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है कभी बैठ के घड़ी भर अपने मन में झांकना और तुम पागल भीड़ पाओगे वहां विचारों की वासनाओं की आकांक्षाओं तुम खुद ही चौंकोगे कि मैं कैसा पागल हूं ये भी कोई होना है ये शोरगुल भीतर ये बाजार भीतर ये कोलाहल भीतर क्या इस कोलाहल के रहते जीवन के रस का कोई अनुभव हो सकेगा क्या उस कोलाहल के चलते जीवन के सौंदर्य से कुछ संबंध हो सकेगा सत्य से कोई मिलन हो सकेगा हालत वैसी ही है जैसे नीर बिन मीन सुखा है जैसे किसी ने खींच ली हो सागर से मछली और डाल दी हो सूखे तट पर जलती हो धूप बरसती हो आग सूरज से और मीन तड़फती हो और मीन चाहती हो कि वापस सागर मिल जाए जब जीवन कहते ऐसी मेरी दशा ऐसी प्रत्येक की दशा है तुम चाहे मानो भी ना क्योंकि मानने में भी तकलीफ होती क्योंकि मानने का मतलब होता है फिर सागर की तलाश करनी होगी तुमने तो इस जलती हुई रेत में ही घर बना लिया है तुमने तो इस सूरज से बरसती आग को ही अपना अस्तित्व समझ लिया है तुम तो मान ही लिए हो कि यही है होने का ढंग और कोई ढंग होता नहीं अधार्मिक आदमी मैं उसको ही कहता हूँ जो मानता है कि जैसी जिंदगी चल रही है बस जिंदगी की यही एक शैली है यही एक उपाय है और कोई जिंदगी होती नहीं धार्मिक मैं उसे कहता हूँ जो कहता है यह अगर जिंदगी है तो जिंदगी व्यर्थ है जिंदगी का कोई और ढंग होना ही चाहिए जिंदगी की कोई और शैली होनी ही चाहिए मुझे भला पता ना हो तो खोजूंगा अधार्मिक कहता है कोई ईश्वर नहीं है उसका क्या प्रयोजन है कहने से कि ईश्वर नहीं उसका इतना ही प्रयोजन है कि जैसा जीवन है बस ऐसा ही जीवन है इससे अन्यथा कोई जीवन नहीं मत उठाओ आंखें ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं कोरा आकाश और मत पुकारो किसी को कोई उत्तर न कभी आया है और ना आएगा मत खोजो कुछ और जगत में कुछ भी रहस्य नहीं है बस यही कूड़ा करकट यही जिंदगी इसी घास फूस में किसी तरह जी लो गुजार लो चार दिन ये जिंदगी एक दुर्घटना है मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी यहां ना कुछ पाने को है न कुछ खोने को है एक दुख स्वप्न है भोग लो गुजार लो अच्छे की बुरे जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है वो यही कह रहा है कि जैसी जिंदगी है इस अन्यथा जिंदगी की बात मत उठाओ क्योंकि तुम अन्यथा जिंदगी की बात उठाते हो तो फिर मुझे परिवर्तित होना पड़े अगर सागर कहीं है तो फिर मछली कैसे रेत में घर बनाए अगर सागर कहीं है और सागर की शीतलता कहीं है तो फिर कैसे मछली सूरज की तपती धूप को अंगीकार करे फिर घर आंगन कुछ भी सुहाएगा नहीं फिर एक खोज पकड़ लेगी प्राणों को मत डालेगी फिर एक प्रचंड झंझावात आएगा जीवन में अन्वेषण का जन्म होगा संधान शुरू होगा नेह की बूंद झरी बदरी पसरी पसरी सब देह पिरानी भिजत खिजत छोड़ी गयो कर मिंजत हो मेरी बात न मानी सुनी अटारी कटारी लगे सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी गाज गिरे ऐसे मौसम पे जहां में भीतर आग और बाहर पानी जिंदगी अभी ऐसी है गाज गिरे ऐसे मौसम पे जहां में भीतर आग और बाहर पानी बाहरी बाहर सब रोशनी भीतर अंधेरा बाहर बाहर सब थोथे आयोजन शीतलता के भीतर जलती प्रचंड अग्नि सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी और जब तक परमात्मा से प्यारे से मिलन नहीं हुआ सुनी अटारी कटारी लगे तब तक सब सुना दे समझा लो बुझा लो झूठे सपने देख लो यह मेरी पत्नी यह मेरा पति यह मेरा बेटा यह मेरा भाई किसी तरह बुलाए रखो अपने को संग साथ में समझाए रखो मगर ये सब समझ मौत आएगी उखाड़ जाएगी ये कागज की नावें डूब जाएंगी इनके सहारे कोई कभी पार नहीं हुआ है सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी और जिसको याद आनी शुरू हो गई सागर की उसे कोयल की पुकार कुहू कुहू की पुकार अनंत से आती अपने प्यारे की पुकार मालूम होने लगी कटारी जैसी लगी थी और जब पपीहा पुकारेगा पी कहा तो उसके प्राणों में भी उकार, पुकार उठेगी कि पी कहा प्यारे को खोकर हम जी रहे हैं सागर को खो के मछली पड़ी है जैसे नीर बिन मीन सुखा है ऐसे हम सूख रहे जिसको तुम जिंदगी कहते हो ये धीमे धीमे मरने के अतिरिक्त और क्या है आहिस्ता आहिस्ता आत्मघात और क्या है सत्संग में अगर कभी तुम्हें एकाध बूंद का अनुभव हो जाए तो तुम्हें सागर की याद आने लगे इसलिए सत्संग सरोवर है भक्ति स्नान नेह की बूंद झरी बदरी पसरी पसरी सदेह पिरानी एक हाथ बूंद तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम्हें पता चले कि जल भी है और प्यासा रहना नियति नहीं अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हारा ही उत्तरदायित्व तुमने तलाश सरोवर की नहीं की यही इसी जमीन पर यही तुम्हारे बीच ऐसे लोग सदा रहे हैं सदा है सदा रहेंगे जो तृप्त हो गए जो सूख नहीं रहे जो रोज हरे हो रहे जिन्हें परम जीवन मिल गया है जिन्हें ऐसा जीवन मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं आता जिन्होंने शाश्वत को पहचाना है जिनके हाथ परमात्मा के हाथ में पड़ गए और जिन्होंने अपने हृदय को उसके हृदय में डुबा दिया है जिन्होंने अपनी बूंद को उसके सागर में उतर जाने दिया है आपन के ही ते कहूं सुना है जो समझो तो समझ ना आए जब जीवन कहते हैं मैं रो भी तो किसके सामने रो समझेगा कौन लोग हंसेंगे क्योंकि लोगों ने तो जिंदगी बना ली घर आंगन में ही सब समाप्त हो गया सारा आकाश उन्होंने अपना आंगन समझ लिया है और अपने घर को सारा अस्तित्व मान लिया है तड़फ रहे हैं सड़ रहे गल रहे सूख रहे लेकिन यही उनकी जिंदगी की परिभाषा है अपन कहीं तक कहो सुना है मैं किसी से कहने भी जाऊं अपनी पीड़ा तो किससे कहूं इसलिए तो भक्त ने प्रार्थना खोजी प्रार्थना की खोज के बुनियादी कारणों में एक कारण यह है कि किसी और से कहने का कोई अर्थ नहीं मालूम होता तो परमात्मा से ही कहने के सिवा है और कोई उपाय नहीं है तो भक्त उसी से कह लेता उसी के सामने रो लेता है आंसू बहा लेता निवेदन कर लेता है उत्तर आए या ना आए ये सवाल नहीं एक बात तो कम से कम ठीक है कि परमात्मा सुने या न सुने कम से कम हंसेगा तो नहीं पागल तो ना समझेगा उत्तर ना भी आएगा तो चलेगा लेकिन इस जगत में किसी से अगर कहो तो लोग हंसेंगे धार्मिक आदमी को देखकर लोग सदा हंसे हंसी उनकी आत्मरक्षा है हंसते हैं क्योंकि उन्हें डर पैदा होता है कि हो ना हो कौन जाने यह आदमी सही हो अगर यह आदमी सही है तो उनके पैर की जमीन पैर के नीचे की जमीन खिसक गई इस आदमी को गलत होना ही चाहिए तो ही उनके पैर के नीचे जमीन फिर रहती अगर बुद्ध सही है तो तुम गलत हो गए अगर कृष्ण सही है तो तुम्हारा भवन गिरा तुम दोनों सही नहीं हो सकते साथ साथ बुद्ध के और तुम्हारे सही होने में कोई समझौता नहीं हो सकता इसलिए लोग जब बुद्ध जीवित होते हैं तो बुद्ध से बचते और जब बुद्ध मर जाते हैं तो उनकी पूजा करते दोनों तरकीबें बचने की जिंदा होते हैं तो बचते क्योंकि सुनने में खतरा है कौन जाने कोई बूंद कंठ में उतर ही जाए तुम्हारे बावजूद उतर जाए तुम चाहते भी ना हो और उतर जाए कोई बात समझ में पड़ ही जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसलिए बचते विरोध करते और जब बुद्ध मर जाते तो बचने की और भी अच्छी तरकीब मिल जाती फिर पूजा करते फिर उनकी मूर्ति बना लेते लेकिन समझते कभी भी नहीं या तो गाली देते हैं या पूजा करते हैं और ख्याल रखना दोनों में कुछ भेद नहीं जिंदा हो तो गाली देते मर जाए तो पूजा करते मरे को तो वैसे भी कोई गाली नहीं देता ना बुरा से बुरा आदमी भी मर जाए तो भी गांव के लोग प्रशंसा करने लगते एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन को फोन किया कि भाई ठीक तो हो नसरुद्दीन ने कहा कि ऐसा पूछने का कारण और उस आदमी ने फिर पूछा कि कहा से बोल रहे हो नसरुद्दीन ने पूछा कि बात क्या है मामला क्या है उस आदमी ने कहा कुछ नहीं गांव में लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करते सुना तो मुझे शक हुआ कि कहीं मर तो नहीं गए क्योंकि यहां जब कोई मर जाता तभी लोग प्रशंसा करते मैंने सुना है एक गांव में एक आदमी मरा उस गांव का बड़ा उपद्रवी आदमी था ऐसे तो नेता था नेताजी कहलाता था मगर नेताजी जैसे होते हैं बड़ा उपद्रवी था गांव उससे परेशान था मरा तो सारा गांव प्रसन्न हुआ दिल ही दिल लोग खुश हुए लेकिन नेता था उसके सागर भी थे दादा था गांव में उसके और मानने वाले भी थे तो सारे गांव को जाना तो पड़ा ही मरघट क्योंकि मर के भी उसकी ताकत तो थी उल्लू भी मर जाए तो औलाद तो छोड़ ही जाते अब बड़ी मुसीबत वहां ये आई कि गांव के लोगों से कहा गया कि कुछ प्रशंसा में बोलो नेताजी के नेताजी मर गए तो उनकी समाधि पर तो लोग एक दूसरे का मुंह ताके लोग बहुत सोचे कि बोले क्या इसकी प्रशंसा ऐसा तो कभी इसने कुछ किया ही नहीं था जिसकी प्रशंसा की जा सके आखिर जब कोई उपाय ना हुआ तो गांव के एक पंडित जी को लोगों ने कहा आप ही कुछ आप शास्त्र के ज्ञाता हैं वेद पुराण के लिए आता है आप ही कुछ ऐसी बात कहो कि मामला टले कुछ तो कहना पड़ेगा मर गया आदमी तो उसकी प्रशंसा में कुछ दो शब्द तो कहो पंडित ने खड़े होकर कहा कि नेताजी चले गए पांच भाई और छोड़ गए हैं पीछे उन पांच भाइयों की तुलना में वो देवता तुल्य थे और तो कुछ उसको भी नहीं सूझेगा वो कहे क्या ये बात गांव के लोगों को भी जची ये बात सच वो पांच भाई तो और पहुंचे हुए कोई मर जाए तो प्रशंसा करनी ही होती फिर कुछ निंदा का कारण भी नहीं रहा और जब बुद्ध जैसे व्यक्तियों की हम बहुत निंदा करते हैं उनके जीवन में तुम्हारे भीतर एक अपराध भाव भी पैदा हो जाता है क्योंकि कहीं प्राणों के किसी अंत में कोई कहता तो है कि हम गलत कर रहे हैं हमारे प्राणों के प्राण में कोई स्वर गूंजता तो है कि हम गलत कर रहे हैं करना पड़ता है क्योंकि हमारे जीवन की सुरक्षा है इसमें नहीं तो हमारी दुकान क्या हो हमारा बाजार क्या हो हमारे संबंधों का क्या हो अगर बुद्ध की सुने तो हमारी जिंदगी का सारा का सारा इंसान अस्त व्यस्त हो जाता है जिसको हमने जिंदगी कहा वो तो अस्त व्यस्त हो जाती तो विरोध तो करना पड़ता है लेकिन कहीं प्राण के किसी गहन तल पर सत्य को एकदम इंकार कर भी तो नहीं सकते हो तो बुद्धों के मरने के बाद हमें पश्चाताप घेरता है अपराध भाव घेरता है उस अपराध भाव के कारण फिर हम पूजा शुरू करते हैं कि चलो ठीक है जो जिंदगी में हुआ हुआ अब तो दो फूल चढ़ाओ अब किसी तरह अपने मन को हल्का कर लो तो जीसस को सूली दी और फिर 2000 साल से पूजा चल रही है सुकरात को जहर पिलाया और ढाई हजार साल से सम्मान और सुकरात के प्रशंसा में इतने गीत लिखे जा रहे बुद्ध को पत्थर मारे महावीर के कानों में सलाखें ठोक दी जिंदा रहना मुश्किल कर दिया और फिर मंदिर खड़े हो रहे और पूजा के थाल उतारे जा रहे यहां तो सच बात किसी से कहनी मुश्किल है क्योंकि लोगों की जिंदगी झूठ पर खड़ी है सच का जरा सा धक्का जरा सा झोंका और उसके उनके ताशों के महल गिर जाते कौन सुनने को राजी है और किसी से कहो भी कोई सुनने को राजी भी हो जाए तो भी कौन सहानुभूति तुम्हें दिखलाएगा आपन कहते कहो सुना है जब जीवन कहते हैं किसी से अपने दिल की अपने दुख की बात भी कह सको ऐसा भी कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता जो समझो तो समझ ना आए न किसी दूसरे से कह सकते खुद समझने की कोशिश करो तो कुछ समझ में आता नहीं इतना सब बेबूझ है क्यों मैं आया क्यों जन्मा क्यों हूं किस लिए किस तरफ चल रही है यात्रा कौन खींचे लिए जाता है कौन चलाता है जीवन के विराट उपक्रम को कौन छिपा है इस सारे रहस्य के भीतर किसके हाथ किसके हस्ताक्षर इस विस्तार में खुद समझो तो भी कुछ समझ में नहीं आता ये बात समझने की नहीं ये बात बुद्धि की नहीं ये बात हृदय की चूंकि समझ में नहीं आती बात इसलिए भक्त समझ के केंद्र से हट जाता है और प्रीति के केंद्र में उतर जाता है ज्ञानी वही उलझा रहता है और समझने की ही कोशिश करता रहता है समझने की कोशिश परमात्मा को वैसे ही है जैसे कोई आंख से संगीत सुनने की कोशिश करे हाँ आंख से वीणा दिखाई पड़ेगी और संगीतज्ञ वीणा के तार छेड़ता हुआ भी दिखाई पड़ेगा लेकिन सुनाई कुछ भी ना पड़ेगा या जैसे कोई कान से देखने की कोशिश शुरू करे तो वीणा के तार दिखाई नहीं पड़ेंगे न वीणा न वीणा वादक लेकिन स्वर सुनाई पड़ेगा आंख देखती है सुनती नहीं कान सुनता है देखता नहीं बुद्धि क्षुद्र पर समर्थवान है विराट पर नहीं विराट पर हृदय का अधिकार है जो बुद्धि से समझने चलते हैं सत्य को उनके हाथ में क्षुद्र सिद्धांत लगते सत्य नहीं जो हृदय से सत्य को समझने चलते वे समझ पाते लेकिन हृदय की भाषा समझने की भाषा नहीं प्रेम की भाषा है प्रेम एक तरह के ज्ञान को जन्म देता है उसी ज्ञान का नाम भक्ति है भक्त ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान को समझता हूं लेकिन भक्त ये कहता है कि मुझे उसका स्वाद मिला भक्त ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्धांत समझा सकता हूं कि भगवान क्या है भक्त इतना ही कह सकता है कि मैंने डुबकी मारी मैं जिया मैंने उसे अनुभव किया मैं उसके ही रूप में डूब गया वो मेरे रूप में डूब गया मैं उसके साथ एकात्म हो गया हूं भक्त यही कह सकता है कि मैं हूं प्रमाण उसका और कोई प्रमाण नहीं दे सकता जो समझू तो समझ ना आए समर ही समर दुख आभर रोए और बहुत अपने को संभालता हूं मगर रह रह के रह रह के बड़े दुख का आंदोलन उठता है कि और कितनी देर और कितना तड़पाओगे और कितने दूर दूर दूर रखोगे समरी समरी दुख आवे रोए रो रो उठता हूं ये भक्ति की पीड़ा समझो किसी से कह नहीं सकता कोई समझेगा नहीं कहे तो लोग हंसेंगे पागल समझेंगे अपने ही भीतर गुपचुप संभाल कर रखना होगा खुद भी समझना चाहे समझ में आता नहीं क्योंकि बुद्धि बड़ी छोटी है सत्य उसमें समाता नहीं तर्क काम नहीं पड़ते सब तर्क गिर जाते शास्त्र शब्द सिद्धांत सब थोथे मालूम होते कोई अनुभव की तरफ ले जाता मालूम नहीं होता विधि विधान औपचारिक क्रियाकांड सब ऊपर ऊपर मालूम होते अंतस्थल नहीं छूता अंतस्थल नहीं आंदोलित होता भीतर ऊर्जा नहीं उठती उमंग नहीं जगती उत्साह का आविर्भाव नहीं होता फिर करे क्या भक्त रह रहे के रोने लगता है संभालता है क्योंकि कौन उसके आंसुओं को समझेगा उसके आंसू उसे व्यर्थ ही विक्षिप्त सिद्ध करवा देंगे कौन उसके भाव को पहचानेगा भाव को पहचानने वाले समृद्ध लोग कहा उसके भाव को सम्मान दे सके ऐसे शालीन लोग कहा जहां कोड़ी कोड़ी के लिए लोग टूटे मर रहे हैं जहां क्षुद्र क्षुद्र पदों के लिए संघर्ष चल रहा है वहां परमात्मा के लिए कोई रोएगा कौन समझेगा इसे लोग कहेंगे गया काम से होश संभालो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो भटक जाओगे अपने को वापस दुनिया में लाओ किन कल्पनाओं के जाल में खोए जाते हो फिर भी नहीं सकता रो भी नहीं सकता पराए तो पराए अपने भी पराए हो जाती पत्नी को परमात्मा का भाव जगे पति से नहीं कह सकती पति को जगे पत्नी से नहीं कह सकता अपने जो है इतने निकट जो है वे भी ऐसी बातें नहीं समझेंगे मेरे पास रोज घटनाएं घट जाती कोई पति आ जाता है आपने मेरी पत्नी को क्या कर दिया अकारण हंसती है रोती अकारण पास पड़ोस में खबरें फैलने लगी कि कुछ गड़बड़ हो गए कोई कारण हो तो हंसो कोई कारण हो तो रो लेकिन अकारण बैठे बैठे तो तुम भी सोचोगे तुम्हारी पत्नी एकदम बैठी रहे कुर्सी पर एकदम खिलखिला के हंसने लगे तो तुम्हें भी शक होगा कि बात क्या है और पति कहते हैं कि अगर मैं समझाता हूं तो वो और हंसती मैं तो चुप रहे कोई मोहल्ला पड़ोस के लोग सुन लेंगे तो उसे और हंसी आती कभी कभी बैठे रोने लगती कोई कहानी नहीं और इससे भी ज्यादा अड़चन होती कभी कभी कि दोनों काम एक साथ करने लगती हंसना रोना दोनों ये तो सिर्फ पागल ही करते तो मुझसे पूछते हैं वो कि क्या करें किसी चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सक क्या करेगा ऐसे व्यक्ति को दे देगा इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा ही है जैसे कभी कभी तुम करते हो कोई नई बात नहीं तुम्हारी घड़ी बंद हो गई एक दिया झटका जोर से कभी कभी चल पड़ती है ये बात भी सच मगर ये कोई तरकीब है घड़ी चलाने की कोई घड़ी साज तुम कोई घड़ी साज नहीं हो कभी कभी हो जाता है कि चल पड़ती कभी कोई तेल अटक गया था कि कभी कोई धूल का कण अटक गया था दे दिया झटका मगर ये संयोग की बात है ये कोई कला नहीं है ये कोई विज्ञान नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक का शाक मस्तिष्क बड़ी सूक्ष्म घड़ी जैसी चीज है कभी कभी ठीक चलने लगता तो लोग समझते हैं ये कोई कला है ये कला नहीं है इससे तुम कुछ वैज्ञानिक उपक्रम नहीं कर रहे हो सिर्फ असमर्थता घोषित कर रहे हो कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता चलो कोशिश करके देख ले दैनिक जोर का धक्का शायद चल जाए और जिन जिन के पास घड़ी है सभी को यह अनुभव होगा आदमी जरा ठोंक पीट के सोचता है कि अगर चल जाए तो बचे घड़ी साज के पास जाने से और कभी कभी चलती भी मगर कभी कभी चलना अनायास है सौ में निन्यानबे मौकों पर नहीं चलेगी और खतरा भी है कि जैसे कभी कभी चल जाती है कभी कभी झटका देने से और भी बिगड़ जाएगी जितनी बिगड़ी थी उससे ज्यादा बिगड़ जाएगी क्या करेगा इज्जत कोई इलाज नहीं भक्ति का कोई इलाज नहीं नानक बीमार पड़े थे भक्ति में वैद्य ने आके नाड़ी पकड़ी तो ना, नानक हंसने लगे और कहा कि नाहक मेहनत ना करो ये मरीज तुम्हारी दवा से ठीक ना होगा ये बीमारी इलाज हो सके ऐसी नहीं ये तो परम चिकित्सक जब आएगा तभी ठीक हो सकेगी ये तो औषधि जब समाधि की उतरेगी तभी ये व्याधि जाएगी उसके बिना नहीं समाधि ही इस व्याधि के लिए औषधि है और कुछ नहीं किससे कहो कोई समझेगा नहीं रो भी तो भी अकेले में रोना पड़ेगा संभाल संभाल के भक्त को चलना पड़ता है क्योंकि संसार भक्त के बिल्कुल ही प्रतिकूल है यहां तुम ये बात ख्याल रखना कि यहाँ संसार ज्ञानी के इतने प्रतिकूल नहीं क्योंकि ज्ञानी की भाषा और संसार की भाषा में एक तारतम्य ज्ञानी गणित और तर्क की भाषा बोलता है वही भाषा बाजार की है ज्ञानी बाजार की भाषा से भिन्न भाषा नहीं बोलता उसकी तर्क सरणी वही है दो दो चार जैसे बाजार में होते हैं वैसे ही ज्ञानी की भाषा में दो दो चार होते अर्जुन तो भक्त की वहां पुराना कोई गणित काम नहीं करता वहां एक और एक मिलकर दो नहीं होते एक और एक मिलकर एक ही होता प्रेम में एक और एक मिलकर एक ही होता दो नहीं होते गणित में एक और एक मिलकर दो होते तो ज्ञानी को इतनी अड़चन नहीं है और त्यागी को भी अड़चन नहीं क्योंकि उसकी भी भाषा संसार की भाषा है तुम भली भांति जानते हो कि अगर धन कमाना है तो बहुत से त्याग करने पड़ते धन कमाने वाला कम त्यागी नहीं होता अगर दुकान पर ग्राहक है छोड़ देता उस दिन भोजन उपवास कर जाता है अगर धंधा जोर से चल रहा है तो रात देर तक जागा रहता है अगर रात भर भी जाग के हिसाब किताब करना पड़े तो वो भी कर लेता है तुम जानते हो कि दुकानदार भी एक तरह की तपस्या करता है तुम जानते हो पद का खोजी भी बड़ी चेष्टाएं करता है बड़े उपक्रम करता है सब तरह के त्याग करता है जेल इत्यादि भी जाना पड़ता है जेल वगैरह नहीं गए तो सर्टिफिकेट नहीं किसी से कहो भाई वोट दो पूछता कितनी दफे जेल गए तो सर्टिफिकेट चाहिए कि इतनी दफा जेल गए कोई भी बहाने से सही मगर दो चार दफा जेल जाना ही चाहिए नहीं तो नेता कैसे त्यागी की भाषा भी संसार की भाषा से भिन्न नहीं है सबसे ज्यादा कठिनाई है भक्त की क्योंकि उसकी भाषा में और संसार की भाषा में कोई तालमेल नहीं है वे अलग ही भाषाएं उनका एक दूसरे में अनुवाद भी नहीं हो सकता संसार की भाषा है गणित की और तर्क की भक्त की भाषा है भाव की और प्रेम की समर ही समर दुख आवे रोए कस पापी कह दर्शन होए और मैं जानता हूं कि तेरा क्या कसूर मैं पापी ऐसा हूं कि तेरा दर्शन भी हो तो कैसे हो ये भक्त की भाव दशा समझना भक्त दोष नहीं देता भगवान को यह नहीं कहता कि तू नाराज है कि तेरी कृपा की कमी कि तू रहीम नहीं रहमान नहीं कि तू करुणावान नहीं इतना ही कहता है कष्ट पापी कहीं दर्शन को मैं पापी हूं अज्ञानी हूं मूर्ख हूं दर्शन हो भी तो कैसे हो और ये भी भली भांति जानता हूं कि मेरे रोने से कोई मेरी पात्रता थोड़ी हो गई कि दर्शन होना चाहिए मैंने तुझे प्रेम किया इतना ही तो काफी नहीं है में भी हजार हजार रोग है और हजार हजार विशुद्धियां आने की अभी संभावना है हजार हजार अशुद्धियां अभी मुझ में है अभी मैं पवित्र कहा अभी तू आए इस योग मेरा घर का तन मन सुखद भय मोर आए लेकिन इतनी जैसी तैयारी कोई कर लेता है यही तैयारी संभल संभल के रोना संसार से छिपा छिपा के प्रार्थना करना अपने मन के भाव को अपने मन के भाव के जैसा ही रखना उसकी अभिव्यक्ति भी ना करना एकांत में बहा लेना आंसू और जानते रहना कि परमात्मा की अनुकंपा तो अपार है मेरे ही पापों के कारण बाधा पड़ती होगी वह तो सामने है मेरी आंखों पर ही पर्दा होगा वह तो आया ही हुआ है मैं ही नहीं देख पा रहा हूं कहीं मेरी ही भूल चूक है ऐसी ही भाव दशा तो तैयार करती भक्त को यही तो उसकी पात्रता का निर्माण है और तब घटना घटती है तनमन सुखित भयो मोर आए तुम आ गए ऐसे ही अचानक आना होता है मेरा तन मन दोनों आनंद से भर गए तेरे जलबों में गुम होकर और खुद से बेखबर होकर तमन्ना है कि रह जाऊं जैसा तापा नजर होकर हिजाब अंदर हिजाब जलवा अंदर जलवा क्या कहिए बला में फंस गए उस सांप पाबंदे नजर होकर कहा जाती है मिलकर ओ निगाहे नाच बेपर्दा मेरे पहलू में रह जा लज्जते डरते जिगर होकर लताफत मानिए नजाराए सूरज सही लेकिन धड़कना दिल का कहता है कि वो गुजरे इधर होकर पहले साफ साफ समझ में आता भी नहीं मगर गंध तो आ जाती स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ता पर धुंधली छाया तो अनुभव में आ जाती पैर दिखाई ना भी पड़े पग ध्वनि तो सुनाई पड़ जाती लताफत मानिए नजाराए सूरत सही लेकिन धड़कना दिल का कहता है वो गुजरे से इधर होकर और दिल एक नई गति से एक नई लय से एक नए छंद से धड़कने लगता है वही पहचान है और भक्त और चाहता क्या है तेरे जलवों में गुम होकर और खुद से बेखबर होकर तमन्ना है कि रह जाऊं जैसा तापा नजर होकर बस तुझ में खो जाऊं मिट जाऊं तनमन सुखित भयो मोर आए जब इन नैनन दर्शन पाए आ गए तो भरोसा नहीं आता अनंत अनंत प्रतीक्षा के बाद अचानक ज्ञानी को तो भरोसा आ जाता है निश्चित ही क्योंकि उसने सारे उपाय किए उसे तो कठिनाई अगर कोई थी तो एक थी कि परमात्मा अभी तक आया क्यों नहीं क्योंकि मैंने सब तो किया जो करना चाहिए उसको शिकायत थी ज्ञानी के सामने जब परमात्मा आए तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है वो तो मानता है कि मैं दावेदार हूं होना ही चाहिए था भक्त आश्चर्यचकित होता अवाक होता क्योंकि भक्त जानता मैं तो पापी था मेरा सामर्थ्य क्या मेरा बल क्या और तुम आए तुम मेरी नजर में आए हजारों कुर्बतों पर यू मेरा महजूर हो जाना जहां से चाहना उनका वहीं से दूर हो जाना निकाबे रू ए नादीदाता अज खुद दूर हो जाना मुबारक अपने हाथों हुस्न का मजबूर हो जाना सरापा दीद होकर गर्क मौजे नूर हो जाना तेरा मिलना है खुद हस्ती से अपनी दूर हो जाना मोहब्बत क्या है तासीरे मोहब्बत किसको कहते हैं तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना यकायक दिल को हालत देखकर मेरा तड़प उठना उसी आलम में फिर कुछ सोचकर मसरूर हो जाना जिधर वो उसने एक सुई का मंजर याद है अब तक निगाहों का सिमटना और हुजू में नूर हो जाना क्या है भक्त की यह अनुभूति मोहब्बत क्या है तासीर मोहब्बत किसको कहते तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना भक्त दावेदार नहीं भक्त तो सदा जानता है कि जब भी तुम मिलोगे मैं अपात्र ही था मिले तो तुम अपने प्रसाद से मिले अपनी अनुकंपा से मिले मेरी पात्रता से नहीं तुमने मुझे मजबूर कर दिया तुमने मुझे झुका ही दिया मुझे तो अपनी तरफ से झुकना होता तो शायद मैं झुकता भी नहीं मेरी अकड़ ऐसी मेरा अहंकार ऐसा मोहब्बत क्या है तासीर मोहब्बत किसको कहते तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं झुक जाता तूने मजबूर कर दिया तू आया और तूने मुझे अपने में डुबा लिया तनमन सुखित भयो मोर आए और ख्याल रखना जगजीवन कह रहे हैं मन तो आनंदित हुआ ही है तन भी आनंदित हुआ है भक्त के मन में तन और मन में भेद नहीं है भीतर तो आनंद उमगा ही है बाहर भी आनंद बरसा है बाहर और भीतर में भेद नहीं चैतन्य तो नाच ही उठा है लेकिन पदार्थ भी आंदोलित हुआ है भक्त के मन में चेतना और पदार्थ में भेद नहीं है जब जीवन चरणन लपटा है रह संग अब छूट न जाए बस अब इतनी कृपा और करो मैं तो तुम्हारे चरणों में लप जाऊंगा मगर मुझ पर मुझे भरोसा नहीं ये भी तुम्हारी ही कृपा हो तो ही बात बने नहीं तो संग फिर छूट सकता है मुझे अपनी भूल चूकों का भली भांति पता है मुझे अपनी नासमझियों का भली भांति बोध है ज्ञानी को अपनी पात्रता का अहंकार होता है भक्त को अपनी अपात्रता का बोध होता है इसलिए भक्त की विनम्रता असीम है जब जीवन चरणन लगता है मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों में लपटू तो फिर कभी छूटू नहीं अब तुम्हारे चरण मिल गए लपट जाऊं सदा लपटा रहे लेकिन ख्याल रखना रहे संग अब छूट न जाए ये मेरे बस के बाहर है तुम ही ध्यान रखना कि कहीं ये संग जो बना है छूट न जाए तुम्हारी कृपा से बना तुम्हारी कृपा से बना रहे कहां कहां पुल सोले पहुंचे ये होश किसको ये कौन जाने हमें बस इतना से याद अब तक लगी थी आग अपने घर से पहले कहा ये शौरिश कहा ये मस्ती कहा ये रंगीनियों का आलम जमाना ख्वाबो ख्याल सा था तेरे फसूने नजर से पहले उठा जो चेहरे से पर्दाए सब सिमट के मरकज पे आ गए सब तमाम जलबे जो मुंत से थे तुलुए हुसने वसर से पहले वो याद आगाजे इस अब तक अनी से जानो दिले हजी है वो एक झिझक सी वो एक झपक सी हर एक इल्तफाते नजर से पहले हम ही थे क्या जिस जुस्तजू का हासिल हम ही थे क्या अपनी आप मंजिल वहीं पे आके ठहर गया दिल चले थे जिस रह गुजर से पहले कहा थी ये रूह में लताफत कहा थी कोनेन में ये वसत हयात ही सो रही थी जैसे किसी की नजर से पहले उसकी एक नजर और जो छिपा था प्रकट हो जाता है और जो फूल दबे पड़े थे खिल जाते और जो चांदारे दिखाई न पड़ते थे दिखाई पड़ने लगते कहा थी ये रूह में लताफत ये हमारे प्राणों में प्रसाद कहाँ था ये आनंद कहाँ था ये उत्सव कहाँ था कहाँ थी ये रूह में लताफत कहाँ थी कोने में ये वसत ये दुनिया का विस्तार इसके पहले कभी दिखा नहीं था ये विराटता कहाँ छिपी थी ये रहस्य पर रहस्य हम कैसे अंधे थे हयात ही सो रही थी जैसे किसी की नजर से पहले तेरी आंख जब तक हमारी आंख में न पड़ी तब तक सारा अस्तित्व जैसे सोया हुआ था जैसे हम बेहोश थे कहा ये सोरिस कहा ये मस्ती कहा ये रंगीनियों का आलम कहा था ये सब रहस्य ये सतरंगी अस्तित्व ये आनंद उत्सव ये प्रतिपल बरसता हुआ अमृत कहा ये सौरिस कहा ये मस्ती कहा ये रंगीनियों का आलम जमाना खाबो ख्याल साधा हम तो जैसे सपने ही देख रहे थे नींद में तेरे फसूने नजर से पहले और तेरी आंख जब आंख न पड़ी तो सपने गए सत्य प्रकट हुआ उठा जो चेहरे से पर्दा ये सब सिमट के मरकज पे आ गए सब तमाम जलवे जो मुंत सिर थे हुसने बसर से पहले जो जो छिपा था प्रकट हो गया जो अदृश्य था दृश्य हो गया नहीं जो कभी सुने थे स्वर वे सुनाई पड़ने लगे सारे गीत बज उठे सारे नृत्य सजग हो गए आज तेरी नजर की रोशनी में आज तेरी मौजूदगी के अमृत में अब ये बात समझ में आती है भरोसा आज भी नहीं आता हमी थे क्या जुस्तजू का हासिल क्या हमी थे लक्ष्य जीवन का हमी थे क्या आप अपनी मंजिल वहीं पे आके ठहर गया दिल चले थे जिस रह गुजर से पहले और ये क्या चमत्कार है कि हम तो समझ रहे थे कि गंतव्य की तलाश कर रहे हैं और आज जब पहुंचे हैं तेरी नजर में और आज जब तस्मन्ना हुआ है तो पता चलता है कि स्रोत और गंतव्य दो नहीं एक ही पहली जो हमारी यात्रा की शुरुआत थी वही हम वापस लौट आए वर्तुल पूरा हो गया है जहां से चले थे वहीं वापस आ गए इस अवस्था का नाम मोक्ष या निर्वाण ये जो भी नाम तुम देना चाहो अब की बार तारू मोरे प्यारे विनती करके कहूं पुकारे जब जीवन कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका अब और नहीं अब तेरे चरण मिल गए अब छूटे ना अब प्रार्थना है कि अब मुझे तार लो अब फिर मत फेंक देना इस विराट जंजाल में अब फिर मत चले जाने देना भटकन की राहों पर अब की बार तारू मोरे प्यारे विनती करके कहूं पुकारे और तो मैं क्या कर सकता हूँ दावा तो नहीं कर सकता अधिकार मेरा कोई थी नहीं विनती कर सकता हूं पुकार कर सकता हूं पुकारूंगा विनती करूंगा नहीं बस अह के तो कही हारे मैं तो बहुत करके हार चुका था और बहुत ही जो कर करके हार चुके और कुछ भी ना हुआ नहीं बस अह के तो कहे हारे तुमरे अब सब बने संवारे लेकिन तुमने संवार दिया बिगड़ी को बना दिया मुझसे तो बिगड़ती ही चली जाती थी बात जितना खोजता था उतना दूर निकल जाता था जितना करता था उतना अनकिया हो जाता था दान भी करता था तो भीतर लोभ संग्रहित होता था विनम्र बनता था तो अहंकार पीछे के द्वार से आता था त्याग करता था तो वह भी भोग की आकांक्षा में करता था कि वैकुंठ का भोग मिलेगा मेरे किए तो कुछ होता ही नहीं था उल्टा ही होता था नहीं बस अह के तो कहीं हारे मैं तो हार ही चुका था ख्याल रखना जब खोज खोज कर कोई हार जाता है तभी उससे मिलन हारे को हरिनाम जीतने वालों को नहीं मिलता हारों को मिलता है जब तक तुम्हें जरा सी भी आशा लगी कि जीत लेंगे तब तक अहंकार जारी जब तक तुम्हें थोड़ी सा भी भरोसा है कि कुछ और कर लेंगे ऐसा नहीं तो वैसा वैसा नहीं तो वैसा नई विधि नया विधान नया मार्ग खोजेंगे मगर कर रहेंगे जब तक तुम्हें थोड़ी सी भी संभावना है अपने पहुंच जाने की तब तक तो तुम चूकते रहोगे तब तक भक्ति का उदय न होगा जिस दिन तुम समग्र रूपेण जानोगे हार गए पूरे हार गए सौ प्रतिशत हार गए गिर पड़ोगे हार में हारे को हरिना उसी क्षण अहंकार गया अहंकार जीता है आशा में आशा अहंकार का भोजन इसलिए बुद्ध ने कहा है धन्य भागी है वे जो परिपूर्ण रूप से निराश हो गए हताश हो गए बड़ा उल्टा वचन क्योंकि आमतौर से हम कहते निराश आदमी बेचारा हताश आदमी बेचारा बुद्ध कहते हैं धन्य भागी है वह जो परिपूर्ण रूप से हताश हो गया निराश हो गया जिसकी आशा जड़ मूल से मर गई उमला गई क्योंकि जैसे ही आशा जड़ मूल से कुमला जाती अहंकार मर जाता अहंकार आशा का ही फूल है और जहां अहंकार नहीं वहीं परमात्मा का आविर्भाव है नहीं बस अह के तो कही हारे तुम्हारे अब सब बने हमारे लेकिन अब देख लिया राज हमने जगजीवन कहते अब अब हम पहचान गए तुम समारते हो तो समरता है अब समार लिया अब छोड़ मत देना हाथ अब गह लिया हाथ अब छोड़ मत देना हाथ तुम्हारे हाथ अरे अब सोई अब सब तुम्हारे हाथ में सब बेसर तुम्हारे हाथ में और दूसरा ना ही कोई अब कोई आशा नहीं किसी और की न अपना भरोसा है न किसी और का भरोसा है अब सारा भरोसा तुम पर है इस भाव दशा का नाम श्रद्धा है श्रद्धा सुवास है भक्त के हृदय की जो तुम कहत करत सो हो तुम जो चाहो हो जाता है हमारे चाहने से तो सब बिगड़ जाता है जो तुम चहत करत सो हो जल थल मेहरत ज्योति समोई अब मैं देख रहा हूँ कि जल में फल में सब तरफ तुम्हारी ही ज्योति समाई हुई है कैसा अंधा था अब तक ये क्यों मुझे नहीं दिखाई पड़ा और ऐसा भी नहीं है कि ये वचन मैंने सुने नहीं थे शास्त्र यही तो कहते हैं सब ने वही समाया है कंठस्थ थे ये वचन मुझे लेकिन बस दोहराता था तोते की भांति तुमने दिखाया तो दिखा तुमने नहीं दिखाया तो शब्द तो मुझे याद रहे शब्द तो मैं दोहराता रहा लेकिन दिखा मुझे कुछ भी नहीं जिससे अंधा रोशनी की बातें करता रहा और बहरा संगीत की चर्चाएं छेड़ता रहा तुम जो चहत करस हो जल थल में रही ज्योति समोई अब मैं देखता हूँ कि सब तरफ तुम ही हो सारी ज्योतियां तुम्हारी ज्योतियां कण खन में तुम ही व्याप्त हो मगर ये तुमने दिखाया तो मुझे दिखा इसकी हद से निकलते फिर ये मंजिल देखते काश हुसने यार को हम हुस्न बनकर देखते गुन का औगुल देखते या माहो अख्तर देखते तुम तो नजर आते हमें हम कोई मंजर देखते फिक्र से मजबूरी पे काबू ही कुछ चलता नहीं वरना हम तो तुझसे भी तुझको छिपा कर देखते फिर वही हसरत है साकी फिर उसी अंदाज से फिर सिवा सागर पे सब कुछ डर के सागर देखते कृष्ण गाने दीद जलवा हमें समझा है क्या तुम अगर सूरत दिखाते जान देकर देखते मर मिटा एक बात पर किस आन से किस शान से आप अगर ऐसे न होते दिल टूटे वर देखते मिटकर ही जाना जाता है हार कर ही पाया जाता है खोकर ही मिलन है मर मिटा एक बात पर किस आन से किस आन से आप अगर ऐसे में होते दिल के तेवर देखते कृष्ण जाने दीप जलवा हमें समझा कि क्या तुम अगर सूरज दिखाते जान देकर देखते हम तैयार थे ज्ञान भी देने को तैयार थे तुम अगर सूरज दिखाते मगर वो हमारी शर्त बनती थी वो हमारा सौदा था लेकिन जिस क्षण हमने अपने को गमाया तुमने सूरत दिखाई हम तो तैयार थे सब कुछ गंवाने को भी लेकिन जब कोई गंवाने को तैयार होता है तो भी अहंकार शेष रहता है कथा मैं सब गंवाने को तैयार हूं दिखाओ दर्शन दो प्रत्यक्ष हो जाओ जैसे साधारणतः लोग कहते हैं तुम्हारे पंडित पुरोहित साधु महात्मा की भक्ति सरल है उनकी बातों में मत आ जाने भक्ति बड़ी जोखिम ज्ञान सरल है त्याग भी सरल है प्रेम सबसे बड़ी जोखिम है क्योंकि ज्ञान में और त्याग में अहंकार मालिक रहता है प्रेम में अहंकार को विदा देनी होती इसकी हद से निकलते फिर ये मंजर देखते काश हुसन यार को हम हुस्न कर देखते तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम उसमें परिपूर्ण लीन हो जाओगे वही हो जाओगे तभी देख पाओगे सागर को जानने का एक ही उपाय है सागर हो जाना मगर सागर होने के पहले बूंद को मिटना पड़े बूंद ये नहीं कह सकती कि पहले मैं सागर हो जाऊं फिर मैं मिटने को तैयार हूं बूंद को तो मिटना पहले होगा और मिटने के पहले कोई गारंटी का कौन गारंटी देगा कि मिटने से सागर हो ही जाओगे जब बीज टूटता है और मिटता है तो गारंटी क्या है कि वृक्ष बनेगा ही हिम्मत चाहिए बड़ी हिम्मत चाहिए दुस्साहस तो चाहिए मगर बीज दुस्साहस तो करता है और वृक्ष हो जाता है बूंद दुस्साहस तो करती है और सागर हो जाती है भक्त दुस्साहस करता है और भगवान हो जाता है काहुक तो हो मंत्र सिखाई सो भजी अंतर भक्ति दड़ाई सब तुम्हारे हाथ में है चाहो तो किसी को राजों का राज दे देते हो मंत्र दे देते हो चाहो तुम्हारी अनुकंपा हो तो वर्षा हो जाती सब कलमस धुल जाता है काहो देखो मंत्र सिखाई सो भजी अंतर भक्ति दड़ाई और किसी के भीतर तुम्हारी अनुकंपा से मंत्र का जन्म होता है और अंतर भजन शुरू हो जाता है अंतर भजन बाहर से सीखा हुआ नहीं जैसे परमात्मा किसी के हृदय को छेड़ देता तारों को छेड़ देता उसके हाथ तुम्हारे हृदय को गुदगुदा जाते हैं कहूं तो कछु कहा नहीं जाएगी जब जीवन कहते ऐसा तुमने मेरे साथ किया अब मैं ये लोगों से कहना भी चाहता हूं तो कह नहीं पाता मैं कहता हूं उसी ने मंत्र दिया कोई मेरी मानता नहीं मैं कहता हूं वही आया उसी ने मेरे हृदय को गुदगुदाया कोई मेरी मानता नहीं मैं कहता हूं वही आया उसने मेरे हृदय तंत्री के तार छेड़ दिए ये वही कारा है कोई मेरी मानता नहीं कहो तो कुछ कहा नहीं जाए तुम जानक तुम देत जनाई तुम ही जानते हो और तुम ही जब जना देते हो तब कोई जानता है से सब व्यर्थ ही भटकते बड़े से बड़े पंडित भी अज्ञानी ही है जब तक तुम नहीं जना देते तब तक कोई भी कुछ नहीं जानता जो अपने से ही जानने की चेष्टा में लगे वे अंबार लगा लेंगे सूचनाओं की शास्त्रों के पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे मगर पहाड़ खोद के उनको चूहा भी मिल जाए इसकी संभावना नहीं उनके हाथ कुछ भी ना लगेगा राख ही राख तुम जानक तुम दित जनाई इस प्यारे वचन को हृदय में संभाल के रख लेना ये मंत्र है तुम जानत तुम चेत जनाई मेरे जानने से नहीं तुम जनाओ तुम जगाओ तुम चेताओ तुम चैतन्य हो तुम चेता सकते हो तुम जानते हो तुम जना सकते हो तुम पूर्ण हो तुम मेरे भीतर पूर्ण को भर सकते हो मैं शून्य हूं मैं शून्य के भांति कितना ही दौड़ता रहू कुछ भी ना होगा आदमी अकेला रहे रिक्त परमात्मा साथ हो भरा है यह मय बैनाम जो इस दिल के पैमाने में है वो किसी शीशे में है साकी न मैं खाने में है यू तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में वो भी थोड़ी सी जो इन आंखों के पैमाने में एक ऐसा राज भी दिल के नेहा खाने में है लुत्फ जिसका कुछ समझने में न समझाने में एक कैसे नात्मा में दर्द की लज्जत ही क्या दर्द की लज्जत सरापा दर्द बन जाने में फिर निकाब उसने उलट कर रूह ताजा फूक दी अब न काबे में है सन्नाटा न बुतखाने में एक बार वो अपना पर्दा खुद उगाड़ दे घूंघट के पट खोल एक बार वो खुद ही अपना घूंघट खोल दे फिर निकाब उसने उलट कर रूह ताजा फूक दी अपने काबे में है सन्नाटा न बुतखाने में फिर सब तरफ गीतों की झंकार पैदा हो जाती काबा भी गा उठता है मस्जिद भी गुनगुना उठती मंदिर भी पुनरुज्जीवित हो जाते मिट्टी में अमृत की धुन आने लगती एक मय बेनाम जो इस दिल के पैमाने में है वो किसी शीशे में है साकीन मैं खाने में और एक मदिरा तुम्हारे दिल के भीतर है वो किसी भी मधुशाला में नहीं मिलेगी मगर उस मदिरा तक तुम्हारे हाथ पहुंच नहीं सकते तुम्हारे हाथ तो बाहर ही बाहर पहुंचते उस मदिरा तक तो परमात्मा के हाथ ही पहुंच सकते उसने ही रखी है तुम्हारे हृदय में वही तुम्हें पिलाए तो पीना हो एक ऐसा राज भी दिल के नया खाने में लुत्फ जिसका कुछ समझने में न समझाने में न तो समझा जा सकता न समझाया जा सकता लेकिन जाना जा सकता है वही जनाते तो जाना जा सकता है भक्ति का सार सूत्र है कि परमात्मा के किए ही कुछ होता है मनुष्य के किए कुछ भी नहीं होता है जगत भगत कहते तुम तारा कितने लोगों को तुमने तार दिया मैं अजान के तान बेचारा मैं भी छोटा मोटा मैं कुछ बहुत बड़ा भगत भी नहीं मेरी भक्ति भी कोई ऐसी नहीं कि तुम मुझे तारो ही मुझे मेरी भक्ति पे भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है क्योंकि जगत में बड़े बड़े भक्त हुए जगत में बड़े बड़े भक्त थे जगत भगत कहते तुम तारा मैं अजान के तान बेचारा लेकिन मैं मेरी कौन गिनती फिर भी तुम आए फिर भी तुमने दर्शन दिए फिर भी तुमने मेरे तन मन को आनंद से सरोबोर किया फिर भी तुमने मेरे हृदय में मदिरा दे दी फिर भी तुमने अपनी नकाब दी इससे भरोसा आता है कि अगर मुझे हो सकता है तो सबको हो सकता है मैं तो ना कुछ मेरी कोई विसात नहीं हुआ होगा बड़े भक्तों को वे बड़े थे मेरी तो कोई विसात नहीं मैं अजान के तान बेचारा लेकिन जब तुम मेरे सामने प्रकट हो गए तो एक बात पक्की हो गई एक बात निश्चित हो गई कि अब तुम किसी के भी सामने प्रकट हो सकते हो मैं तो अंतिम से अंतिम हूं अगर मैं तुम्हारी अनुकंपा का अधिकारी हूं तो प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी अनुकंपा का अधिकारी चरण शीश में ना ही तारू अब मैं तुम्हारे चरणों से अपने शीश को नहीं हटाऊंगा निर्मल मूर्त निरत निहारो अब तो देखता रहूंगा ये तुम्हारा प्यारा रूप ये तुम्हारे सौंदर्य में नहाता रहूंगा जब जीवन को अब विश्वास राखो सतगुरु अपने पास अब मुझे भरोसा हो गया है अब मुझे श्रद्धा उमगी है जब जीवन को अब विश्वास अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि मैं भी पार हो सकूंगा अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि कभी मैं भी इस योग्य हो सकूंगा कि तुम्हारे दर्शन होंगे जब ये अपूर्व घटना घट गई अनायास अनपेक्षित तो अब एक घटना और भी घटेगी इसका भी भरोसा बैठता है राखो सतगुरु अपने पास अब तो मुझे अपने पास रखो अब ये भी श्रद्धा बनती है कि जब इतना हुआ तो इतना भी होगा एक श्रद्धा दूसरी श्रद्धा में ले जाती एक श्रद्धा दूसरी श्रद्धा के लिए द्वार बन जाती निगाहों का मरकज बना जा रहा हूं मोहब्बत के हाथों लुटा जा रहा हूं मैं कतरा हूं लेकिन आगो से दरिया अजल से अब तक बहा जा रहा हूं वही हुस्न जिसके हैं ये सब मजाहिर उसी हुस्न में हल हुआ जा रहा हूं न जाने कहा से न जाने किधर को बस एक अपनी धुन में उड़ा जा रहा हूं न इजरा के हस्ती न ऐसा से मस्ती जिधर चल पड़ा हूँ चला जा रहा हूँ न सूरत न मानी न पैदा न पिन्हा ये किस हुस ये किस हुस्न में गुम हुआ जा रहा हूँ उसके चरणों पर हाथ पड़ते ही न सूरत न मानी न पैदा न पिन्हा फिर कुछ सूझ बूझ नहीं रह जाती होश हवास नहीं रह जाता न सूरत न मानी न पैदा न बिना न कोई अर्थ न कोई है न कोई हेतु ये किस हुस्न में गुम हुआ जा रहा हूँ और ये किस सौंदर्य में डूबता जा रहा हूँ निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ मोहब्बत के हाथों लुटा जा रहा हूँ धन्य भागी है वे जो प्रेम के हाथ लुट जाए मैं कतरा हूं लेकिन बागो से दरिया हूं तो एक छोटी सी बूंद एक कतरा लेकिन सागर ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है मैं कतरा हूं लेकिन बागो से दरिया अजल से अब तक बहा जा रहा हूं अब तो शाश्वतता मेरी है प्रारंभ से अंत तक सब मेरा है अनंतता मेरी है मैं कतरा हूं लेकिन बागो से दरिया हूं तो बूंद लेकिन ये सागर की गोद में जो पड़ गया हूं तो अब सीमा नहीं है मेरी अब असीम मैं कतरा हूं लेकिन आगो से दरिया अजल से अब तक बहा जा रहा हूं वही हुस्न जिसके है ये सब मजाहिर उसी हुस्न में हल हुआ जा रहा हूं और जिस सौंदर्य से ये सारा अस्तित्व परिव्याप्त है उसी में डूबता जा उसी में पिघलता जा रहा हूं उसी में लीन होता जा रहा हूं न जाने कहां से न जाने किधर को बस एक अपनी धुन में उड़ा जा रहा हूं न इधरा के हस्ती न ऐसा से मस्ती जिधर चल पड़ा हूं चला जा रहा हूं न सूरत न मानी न पैदा न बिना ये किस हुस्न में गुम हुआ जा रहा हूं भक्त की पराकाष्ठा है गुम हो जाना भक्ति की पराकाष्ठा है लीन हो जाना तल्लीन हो जाना जैसे बूंद सागर में लीन हो जाती जरा भी भिन्न नहीं रह जाती कोई सीमा का भेद नहीं रह जाता उस अभेद में ही भक्त भगवान हो जाता है अनल हक अहम ब्रह्मास्म आचरण